जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर तो जिंदा है गम के और चार दिन सितम के और चार दिन ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए हजार दिन ये गम के और चार दिन सितम के और चार दिन ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए हजार दिन कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर तू जिंदा है सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर तू आ मेरा श्रृंगार कर तू आ मुझे हसीन कर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर तू जिंदा है हजार बेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर हजार बेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर नई सुबह की संसदा तुझे मिली नई उम्र अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर तुझे जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर तो जिंदा है हमारे कारवा को मंजिलों का इंतजार है ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है हमारे कारवा को मंजिलों का इंतजार है ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है दुआ चल चलेंगे एक साथ हम अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर तू जिंदा है तू जिंदगी जीत में यकीन कर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर तू जिंदा है जमी के पेट में पली अगन पले है जलजले रुके न टिक सकेंगे वो उपभोग के स्वराज में जमी के पेट में पली अगन पले है जलजले रुके न टिक सकेंगे वो उपभोग के स्वराज में मुसीबतों के सर कुचल बढ़ेंगे एक साथ हम मगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर अगर कहीं है स्वर्ग तो जमीन पर तो जिंदा है बुरी है आग पेट की बुरे हैं दिल के दाग ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये बुरी है आग पेट की बुरे हैं दिल के दाग ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर तो जिंदा है